शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने हाथी वालों के साथ क्या किया क्या उसने उनका दांव गलत नहीं किया और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे छोड़ दिए जो उन पर खंगर की पथरियां फेंकते थे तो उसने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाया हुआ भुस